अज्ञात मोह उनका ही इंद्र का जो विषय हो सके ऐसा उनसे अति दूर न हो उस पूर्व देश विशेष में वह एक विशिष्ट चैतन्य रूप में हुआ प्रकाशित होया मनुष्य शक्ति माया प्राप्त अत्यंत अद्भुत प्रादुर्भुत नहीं शुद्ध ब्रह्म का प्रकट होगा शुद्ध ब्रह्म तो कहीं प्रकट हो नहीं सकता तो सरल व्यापक वस्तु नित्य प्रकट अभी नहीं है वो इधर साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म फिर हाँ? साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म को लिया है इसलिए कहते हैं महेश्वर शक्ति जो माया उसको लेकर पाती न अत्यंत अधूरेगा प्रादुर्भूतम चित्र को विशेष किसी विशेष ऐसा विषय धारण करके उसने जवाब प्रकट हो गया ताकि वो आदमी नहीं हो पाए क्या उपलब्ध उपलब्ध हमारा भी देवा नब्य जान गए वो उपलब्ध हो रहा है सब देख रहे हैं ये भी चमक उठ रहा है लेकिन कोई योगा उसको जान नहीं पाए नव्यादंत किमिदम ये देश क्या कुछ विषय क्या है जो हम लोग इस प्रकार से प्रकट हुआ है अग्निमग्रवन और विज्ञान आया अग्निमग्रवन उपदेश को जानने के लिए सभी देवताओं ने सबसे पहले अग्नि को कहा प्रणविधान अयम है और हो गया पूछा गया तो कौन है ये बोला मैं वो हूँ जो संसार पूरे को जला कर आप हूँ हाँ। तब उसने क्या कर सूखा घास सामने में इसका विषय क्या अयम प्रिंग और सामने रखने पर कार्य अभिप्राय है अत्यंत संभावित हो अग्नि मान गया हो दहनादान शक्तिया आत्मसंभावना साधता बनेगी क्योंकि अग्नि और वायु इन दोनों के द्वारा प्रिंग का दहन या तुम का आदान यदि कहते हैं अत्यंत संभावित अन्य से अच्छा उठा लेगा बच्चा के साथ अबोध तो उनका ना इसमें अग्नि देवता वायु देवता के लिए कोई विशेष प्रयास के कुछ है अत्यंत संभावित कार्य है अग्नि और मरुद के लिए तीनों उस घास को जला सके या उड़ा सके किंतु अशक्य आदान अशक्य और अत्यंत संभावित होने पर भी वो न जला सके न उड़ा सके उनके अपनी अशक्ति के द्वारा उनके अंदर जो आत्म संभावना थी उनके जो अहंकार थी खास महत्व अभिमान था मैं महान हूँ मैं जात वेद हूँ है ना ऐसे ऐसे जो मातृशा हूँ इतना ही उनके अपनी जो महिमा अपने आप एक अभिमान था उस अभिमान को हैं स्व में स्वीकृत जो अभिमान स्व द्वारा स्वयं में सर्वकल्प जो अभिमान है तो सामर्थ्य अभिमान को सात्वय सात हो जाए नष्ट हो जाए इसी अभिप्राय से प्रीतों ने दान कर निधन किया है तीव्र शब्द से क्या लोग परिंद्र आदित्य वजन विद्वा तीव्र शब्द से दो अर्थ हो सकता है एक तो बारह सूर्यों में से एक सूर्य का नाम आदित्य होता है सूर्य का नाम इंद्र होता है बारह इंद्रों में से एक का नाम इंद्र है यह नीचे त्रिकोण कारण भातार्यमाच मित्र वर्णवंश भंग तथा इंद्र विवस्वान पूषा चर्जन्यो दश स्मृत तपस्पस्तात्तो विष्णु अजघन्यो जगन्य मास से बारह आदि सेवा करते हैं उनका लग्न नाम है कनंधाता आर्यमा मित्र वरुण अंशु और भंगा इंद्र इंद्र इंद्र भी आ गया व्यवसाय प्रसाद पर्जन्य और प्रस्ताद विष्णु और अजन्य अजन्य में से जगन्य इत्यादि रूप में नामों से उसको पुकारा जाता है इसका महाभारत का विस्तार कहा है कौन सी महीने का कौन देव है अरुण माधवा सेतु सूर्य फाल्गुन तथा चैत्र मासी दिव्य वैशाख के तपरह स्मृत ज्येष्ठ मासी इंद्र ज्येष्ठ माता स्वामी आषाढ़े तथतोरवी जगस्ती श्रावणे मासी यमो भाद्र पदे तथा विषे हिरण्यरेताश्च कार्तिके मार्ग शीर्षे तपेक्षित्र पौषे विष्णु सनातन इत्येते दाशारित्या काश्यतया प्रकीर्तिता महाभारत का आदि क्रम में इस प्रकार के बारह नामों को गिनाया फिर कौन से नये में कौन तारीफ होता है उसका विस्तार से कहा तीसरे इंद्र कहने से आप सूर्य को भी ले अतः प्रतिकार दे रहे क्योंकि देवताओं का मामला चल रहा है प्रसिद्ध है देवताओं का राजा वज्र वज्र को धारण करने वाला मैंने वो देवराज इंद्र तो ऐसा घर देख नहीं रहे अनुरोधा ऐसा कोई घर घर से कोई आपत्ति कोई विरोध नहीं है सूर्य इंद्र जान मामले बनेगा कोई बात नहीं सूर्य के महान ज्ञानी था सूर्य की कृपा से ही दोबारा अद्वैत महर्षि को ईश्वर को प्राप्त हुआ है तो इतने महान वेदज्ञ है उसको कोई संशय नहीं है सर्व वेद ज्ञाता है और मधु क्या हृदय परिषद में आप पढ़ोगे उसमें आधार स्पष्ट ही सकल वेद अपर वेद भी इतिहास पुराण आदि भी सारे चीज उस सूर्य के विभिन्न भागों में इन सब का रस स्थापित फल अर्थात सकल वेद का साथ सूर्य है अतएव सब कुछ कहता है उसके अंदर एक अभिमान जरूर होगा कि मेरे बराबर कोई है नहीं जो तो मैं सारा दुनिया को प्रकाशित कर रहा हूँ मेरे वजह सब जिन्ने है मैं ना होता तो मरी गए होते सबके साथ नहीं उसके अंदर एक अभिमान तो है ही तो उस अभिमान को स्थापित करने के लिए इस तरह विधान आदित्य के सामने कहा जाए उपनिषद के द्वारा ब्रह्मदेव विधि विजिज्ञा देवान प्रस्ताव इंद्र पद उत्ता अन्य ग्रह है वो देवत्व विशेषा दोनों में देवत्व बराबर है चाहे राजा इंद्र को ले लो चाहे सूर्य ले लो सूर्य भी तो देवता ही राक्षस तो है नहीं कि वे देवत्व का कारण को लेकर विचार करना है तो देवत्व का अभिमान को तो तोड़ना है इसलिए आज यह कोई भी नहीं है ऐसा टिप्पण कार में इन लोग पड़े ब्रह्म गए इंद्र जैसे बात है पहुंचा मुझे पूछा गई तू और सामर्थ्य क्या है कुछ नहीं मैं देख पाया तीसरे देख पाया इतना ही मित्रा इतनी क्या ये किया तो राजा है इसे तो बात करा चाहिए मेरा तो रहना चाहिए ना राजे से लड़ा लड़ा जाए बात करा राजा कुछ लेकिन उनसे तो बोला ही नहीं पूछा ही नहीं और क्या दिखता है इसका है कि विद्रोह होने की अधिकतम तो अभिमान इसके अंदर अभिमान ज्यादा है अग्नि वायु अग्नि थोड़े अभिमान थे ना इसलिए उनको तो बाद में कर लिया गया भूल जाना अभिमान वाला है तो क्या बात तो हम लोगों के भी सामने ऐसी पुस्तकें आ जाती कई बार वो आते हैं पहले से ही करके खड़े खड़े बात करेंगे और बड़ा उसका काम और रहते लोग क्या करना पड़ा तो उसके अंदर अभिमान होना कोई आश्चर्य नहीं सबसे ज्यादा अभिमान उसके अंदर जरूर है अत्यधिक तो अभिमान की अपेक्षा अवश्य होगा किस वजह से अधिकतम है अधिक नहीं अधिकतम सम प्रत्यय कर दिया अतिशय में अधिकता अभिमान भी है उसके अंदर सोहम अभिमान प्राप्तम वाक्य भाषण मात्र मध्यानी नहीं इसीलिए ऐसा जाओ कदम सोहम अग्नियावी प्राप्त होगी वैसा जो मैं ब्रह्म सोचा आत्मा आत्मा ने कि जो यद्यपि मैंने अग्नि आदियों से वाक संभाषण भी प्राप्त था लेकिन अन्य न प्राप्त लेकिन मैं जो इंद्र हूँ इतना महान होते हुए भी मेरे से बात करना अभिमान कदम में नाम यार हाँ। ऐसे जैसे मन में विचार आएगा वो अभिमान क्यों क्या देगा तो अवश्य ही अभिमान तो सोचने लगेगा क्या मैं इतना घटिया हूँ कि ये जो कुछ पूज्य दिल प्रकट हुआ था वो अग्नि और वायु से तो बात कर लिया मैं तो बात करना भी कभी नहीं मैंने अभी कौन सी कर करनी क्यों मैंने इसे बात नहीं किया ऐसे उसके मन में जैसे आएगा तो उसका अभिमान अपने आप कहीं अनुग्रह नहीं अंतम तक भ्रम करूंगा का तो मतलब है वह तो राजा पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान वास्तव का अनुग्रह होता है शानदार मान इंद्र अत्यंतम ब्रह्म जिज्ञास यस्मिन प्रादुर्भाव प्रबल प्रशांत अभिमान वह अभिमान शांत अभिमान होकर वह इंद्र ने अत्यर्थम ब्रह्म विजिज्ञास हो तो जो हो गया है जो अत्यर्थ हो गया तिरधान हो गया होगा तो जब ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला होकर के यस्मिन आकाशी ब्रह्म प्रादुर्भावासी जिस आकाशावच्छिन्न ब्रह्म का तो हुआ था विशेष रूपेणा प्रेरणांच और उसके प्रोहन हुआ था तस्वीर आकाश है उसी आकाश में स्वयं अतिरूप विज्ञान था जाना उसने स्त्री को देखा अधिरूप नहीं स्त्री को विज्ञान उसने विद्या को ही अनुभव किया प्राप्त किया परिषद का क्या कैसे लिया कहते हैं अभिप्राय बोध हेतु तो इंद्र का जो अभिप्राय था वहां खड़े रह जाने का उसकी जिस विषय का जिज्ञासा को लेकर खड़ा था वह जिज्ञासा पूरी हो गई ना ये क्या है जानना चाहता तो वह उसको जानकारी मिल गई बोध कौन करा सकता है विद्या तो बोल करा सकती है कोई औरत आगे थोड़ी बोध कराएगी विद्या से ही बोध हो सकता है स्त्री स्त्री शब्दवाची यहाँ पर विद्या मिलनी चाहिए क्या कहते हैं अभिप्राय उद्बोध हेतु क्योंकि अभिप्राय का उद्बोध करने का साधन होने के कारण शब्द से हम विद्या को ले रहे हैं एवकार के द्वारा श्री विग्रह प्रसिद्ध एवकार के विद्या एव आगे कहते हैं रुद्र पत्नी उमा हैमवतीवा सा विद्या एवरती तुम्हारे इस बात को जावर्तन कर दिया स्त्री से समझ एवरी कोई औरत आगे खड़ी होगी हाथ पैर वाली कोबड़े है कनकेशवती जैसे स्त्री भाष्यकार ने कहा लोग शोकुमान सनकेशवती स्त्री लेकिन नारायण स्त्री प्रत्येक प्रकरण का ऐसे महावासी की पंक्ति है तो कहते ये लोग वाला है ना वो आदमी होता है पुरुष और लंबे लंबे केश वाली और स्तन वाली जो होती है वही स्त्री होती है वो यहाँ स्त्री प्रत्यय को करने अपेक्षा नहीं तो करनी वो तो लोग में देश प्रकार क्या भाषिकार ने वो करते बताया है प्रकार की मूर्ति में स्त्री यहाँ पर नहीं योगदार के द्वारा उस मूर्तित्व की जो है खंडन कर दिया वर्तन कर दिया और इसलिए कहते हैं यहाँ पर युवा जोड़ दिया रुद्र पत्नी उमा हेमवती वह उमा विद्या कैसी है जैसे रुद्र पत्नी उमा हेमवती शोभायमान हुआ करती है अत्यंत सुंदर है देवी है सब कुछ है उसी के समान ही भी इसीलिए कहते शोभमाना विद्या विद्या में शोभमान तो क्या है शोभा वास्तव में है क्या यही है शोभा केवल अज्ञान का नाश कर देती है क्या को नाश हर व्यक्ति की अपनी अपनी शोभा वेद का वेगत्व जाया की जाया तो क्या है सब विचार हुआ है ना इसको जरासी नाम करा और उनके वह पुनर्जन्म देखा पति का पुनर्जन्म पत्नी के द्वारा हो जाता है जिस पत्नी से पति का पुनर्जन्म कुछ रूपण हो जाता है वही पत्नी को जाया कहा जाता है और जिस पत्नी से पति को पुत्र प्राप्त हुआ केवल बेटिया हुई वह पति पत्नी ही है जाया नहीं होती है केवल विचार यही जाएगी की जाया पुनर्जन्म देने वाले ने जिसको जाया कर पुनर्जन्म या इति जाया इस प्रकार इसी वेद में आप जानते हैं वेद से वेदा प्रत्यक्ष जिसके विषय में आप कोई उपाय आदि को नहीं जान पाते हैं उस उपाय को उस साधन को जिससे हम जान रहे हैं इसीलिए यही एक वेदक है कि यह सरसल अदृश्य अज्ञात तत्वों का बोध करा देता है इसीलिए यहाँ पर भी कहते हैं कि देखो यही विद्या की शोभा मानत्व है कि वह अविद्या को नाश कर देती है नहीं तो उसको शोभा शोभ माना कहना उचित नहीं होता श्रुति के द्वारा विरूपों से विद्यावान भविष्य पर देखो भाई विरूप है आदमी विद्वान है एवं त्रिव्यापद के पास जाएंगी आप ये नहीं देखेंगे अरे काला है इसे कैसे हम पढ़ेंगे इसके पर से पढ़ रहे हो गया क्योंकि क्या पढ़ोगे क्या पढ़ोगे गोरा होना चाहिए सुंदर होना चाहिए लंबा चौड़ा मोटा चौड़ा होना चाहिए मोटा का पेट होना चाहिए तो फिर हम तो पढ़ नहीं सकोगे ना हम लोग नहीं छोड़े हैं मोटा पेट है मोटे चल रहे हैं आप वो नहीं देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं जो इसके अंदर विद्या है इस उपाधि में विद्यमान विद्या को ग्रहण करने आए हैं आप इसके शरीर आदि को देखते नहीं है सुंदर है क्या सुंदर है क्या आचार क्या है विचार क्या चरित्र क्या क्या मतलब आपको केवल उस विद्या दूसरे कहते हैं गुरु भी विद्यावान गुरु को भी विद्यावान बहुत शोभ है इसलिए जान कर बात करने की यही है विद्या की शोभा जो अत्यंत घृणास्पद वस्तु है अत्यंत आपके लिए जो है हिल वस्तु के समान हो गया है जिसके पास उठना बैठना पसंद नहीं करते हैं लेकिन उसके अंदर जो भी विद्या है तो आप बैठ चाहे कुछ कैसा भी कारण वहां विद्या इधर विद्या कुछ निरूपचार में भी अशोभमान वस्तु में भी शोभा को बढ़ाने वाले वस्तु में से विद्या को शिक्षण दिया गया शोभा शोभमाना बहुत सुंदर बताया श्लोक दिया नीचे अष्टावग्रह दृष्टान दे रहे हैं तो अष्टावक्र कैसा था अत्यंत रूपी था लेकिन सारी दुनिया उसको बहुत सम्मान देती थी राजा जय तक उतर करके आया चरण में प्रणाम कर दिया तो खुद को प्रमुख नहीं पहले उसके हाथ उठाए लेकिन जब उसकी ज्ञान सुना तो एकदम घबरा गए और माफी मांगे तो शोभा किसी बड़ी उसकी उस राज प्रणाम में भी मान पुरुष बन गया हो जो है कारण यह है कि उसका शरीर नहीं उसके अंदर क्या सुंदर श्लोक दिया है उत्तम चहरिया हे योरा न विभूषण हारा न चंद्रोत्पला न न करोति क्षीयते फलभूषणानि सरस्वती विद्या दिया बड़ा सुंदर दिया केवरान विभूषयन पुरुष को केवरान विभिन्न प्रकार के आभूषणों से वह विभूषित नहीं होता हारा चंद्रोज्वला चंद्र के समान हार भी शोभायमान नहीं कर सकते भस्नारम नरेवनम न कुसुमम नारंगदा मुर्दया मुर्दा मुर्जा में बाल बालों को फिर गर्म कर दिया सांप को नहा लिया तीन को लगा दिया काला दही लगा के क्षमता के बढ़िया बना दिया उससे कुछ नहीं होता वाणी एका समय करोगे पुरुषम यह संस्कृता कभी कैसी वाणी संस्कृता यह संस्कृता वाणी सा एका यह समरण करोगी धार्य दे क्षीयन दे घल भूषणान पूरी भूषण को सतशील होने वाले हैं सततम धारे राग भूषण भूषणम इस राग भूषण वास्तव भूषण ऐसे में केंद्रीय पिता ने कहा पांच पृष्ठा दस्या वचना विदांच कारण पांच पृष्ठा भाषा भगवती विद्याम चतुष्पा विद्या स्वरूपी सरस्वती को पूछ करके कक्षा योजना कुछ विद्या का योजनाओं से विधान चकार वही उसको चाबिया और इंद्र से मूल हित का यही उमा इंद्र का मूल का कारण से होने के कारण से क्या उमा शब्द लेना क्या चाहिए विद्या को ही लेनी चाहिए विद्या सहायवान ईश्वर स्मृति उनके कई परिषद में उमा सहायम परमेश्वरम ब्रह्म कई परिषद में आया उमा सहाय परमेश्वरम विभम वह जो परमेश्वर विभु है ब्रह्म है तो उमा सहाय अथवा विद्या की सहायता से ज्ञान नहीं विद्या को छोड़ कर अगे और अन्य कोई साधन नहीं है ब्रह्म को जानने का विद्या सहाय उमा सहाय मैंने विद्या सहाय नहीं करेंगे नीचे टिप्पणी वह स्मृति में उपनी में भाषा ने तो स्मृति दिया हाँ। तो स्मृति के उनको श्रुति को टिप्पण कर विद्या सहायवान ईश्वर स्मृति विद्या ब्रह्म विद्या की सहायता से ही वह ईश्वर सायभूतावतर विद्या सत्य प्रधान माया सत्य जिसमें इंद्र विज्ञान पूर्वकम अग्नि वायु इंद्रास्ते पदे इंद्र के विज्ञान पूर्वक ही अग्नि वायु इन दोनों ने भी इंद्र को द्वारा ज्ञान प्राप्त को प्राप्त किए एवं निर्दिष्टम अधिसवीपम ब्रह्म विद्या इसलिए ब्रह्म विद्या के द्वारा ये ही तीनों के तीनों अग्नि वायु और इंद्र दो से तो बातचीत भी किया तो एक ने जैसा ने निर्बंध को ही जान लिया आकर के अग्नि और वाई को बता दिया उसने इसलिए तीन ही समीप से जानने वाला मेरी समझ समीप करेण तो निर्विष्टम अति समीपम ब्रह्म विद्या ब्रह्म प्राप्त संत सत्षु इष्टवंत तो सम्मान उसको छू लिया छू लिया तो लग गया प्रसन्न छूने की चीज है गया पूरा अनुभव कर उन लोग के अनुभव का विषय यही प्रथम प्रथम वेदांतकार वेदांत रूपी का क्योंकि वे ही लोग जो है सब सत्य लोगों को लेते हैं तस्मात अधिक्राम अधित्य अन्यान अतिशेर नित्यंत अन्यान देवान इसलिए सब तीनों के तीनों अन्य समस्त देवताओं के पेशा से अतिशय नहीं पकड़ते हैं अतो अभी इंद्र अधिक्राम तो उन तीनों में भी जो अग्नि और वायु के पेशा से और देश इंद्र नहीं है आदो ब्रवि जना को से पहला उसकी तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तत्ष आदेश तस्य ब्रह्म एश रक्षमाण आदेश उपासना को उपदेश करता है तत्ष आदेश उस ब्रह्म का आगे कहे जाने वाला उपासना संबंधी जो उपदेश आदेश तस्य ब्रह्म एश वक्षमान आदेश में उपासना संबंधी उपदेश उपासना संबंधी उपदेश क्योंकि तो उपदेश की जरूरी क्या है ये तो विद्युत की इतनी बातों से समझ लिया उसको अध्याय की भी जरूरत नहीं उत्तमाधिकारी भी प्रथम दो खंड के रूप में जो कहा गया उतरे से उतरा अनुभव कर लिया मध्यमाधिकारी के लिए ये बात मंद मध्यमाधिकारी के लिए बात चल रहा है कि अध्यायिका के माध्यम से उसको बताया जाए विद्या कर मध्यम अधिकारी उसमें मात्र से क्या हो जाता है उसमें जिस विद्या की स्थिति सुनगी तुरंत उसकी निष्ठा उस विद्या मिल जाती है कोई ऐसी विद्या है तो अध्ययन में प्राप्त करूंगा तो मेहनत कर लेता है प्राप्त कोई मंदाधिकारी वगैरह ऐसा है उसकी बस की बात नहीं है कुछ करने के बावजूद भी उसमें आलस आ जाता है प्रमाद हो जाता है अनेक प्रकार इसलिए बंदा निकल कोई कोई शब्दार्थ को पकड़ लेता है बाहर खत्म हो गया मंदाजी का लक्षण ये है ना पूर्ण पदार्थ ग्रंथा केवल पूर्व पद पदार्थ ज्ञान धारकम मंदाधिकारी तो मध्यमाधिकारी कौन था मध्यमाधिकारी पंचदार दो तो है उनको साथ तो साथ वह यह नहीं कर लोग मोक्ष और स्वर्ग दोनों भी जा रहा मुक्ति मुक्ति दोनों चाह वो मध्यम आएगा और तुम्हारी गाड़ी कोई फल नहीं था आनंद से संपन्न है विद्या से संपन्न है आनंद से संपन्न है और अत्यंत तो निष्कामी है वो उत्तमाधिकारी इधर उत्तमाधिकारी में पहला हो गया मध्यमाधिकारी के लिए फिर यह लोग पढ़े दोनों का स्थिति जिनका आप बताई गया तो उसका लाभ उनको प्राप्त करेगा मंदाधिकारी के लिए उपासना के बिना उसका अनुपगम शुद्धि को ग्रहण करनी है इसकी नहीं यहाँ पर उपासना का कथन करना इसमें देवेभ्य बिजली के समान देवताओं के सामने बिजली के समान सहज गई वो प्रादुर्भूतम ब्रह्म झटी प्रादुर्भूत किया एकदम प्रकाशमान होकर प्रकट होगी यह हाथ वाला मंत्री है ना वहां पर केवल दिव्य प्रकाश पूंज दिखा आना नहीं वो कुछ मेहनत तो नहीं देता है वो हर या ब्रह्मा के चक्कर पड़ गए थे ब्रह्मा में ये क्या है एकदम पकड़ बाद नहीं था ब्रह्मा दृष्टि लड़ाई नहीं महान नहीं महान और ब्रह्मा के भगने में लगे हुए हैं विष्णु को परिस्थिति में जो है प्रकट हो गए अब वो दोनों समझे क्या आ गया इतना ही हुआ एक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा हरी राधा ग्रंथ तो ब्रह्मा जी ऊपर गया नीचे गया तुम आदि को ढूंढो मैं हमको ढूंढ दूंगा क्या है खंबा प्रकाश में खंबा जैसे लग रहा है वो गया गया गया गया घूम रहा है कुछ उसके ऊपर ये भी नीचे गया कुछ मिला आदि न अंत अनाद्य अनंत तो उधर दूर जाकर फत्ता गिला और गया विष्णु आपने जब बैठा है तो ब्रह्मा जी ने देखा है जी जाऊंगा तो बड़ा बेचती का सवाल है उधर से पेट की कोई जगह पेट की बड़ा उत्कट तो गंध होता है केवड़ा जिसे बनाते केवड़ा तो हिंदी बहुत तो वो फिर गुजरात पर ब्रह्मा जी ने पकड़ लिया हाँ, हाँ। तो कहा गया है अमीर पकड़ी का तो ऊपर से ये जो लिंग दिख रहा है शिवलिंग प्रकाश में शिवलिंग तो शिवलिंग के ऊपर से गिर रहा है लेकिन मेरे को पता ही नहीं कोई था हाथ पर लिंग के मान इतनी शंका मेरे को लग रहा है और मैं कहीं उसको भी स्पष्ट करके चाह रहा हूँ ना तो शादी तुमने ब्रह्मा जी कहने के लगा अच्छा है देखो ऐसा है हमारा भला तेरा भला दोनों कॉन्सेप्ट हो गया समझौता कर लेते हैं हम तुम्हारे बिल्कुल मान सम्मान रखेंगे दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा ऐसे करूंगा वैसे कर दूंगा तो ये झूठ बोलना है कुछ ज्यादा नहीं ये इतना ही बोलना कि मैं ऊपर से आया और ये आदि को देखना ब्रह्मा जी आदि को देख रहे मैं आदि में था वहां से क्या ब्रह्मा जी पूजा को जन्म देने वाला भी वही है संकल्प से चलने तो वाला बाबा जैसा आप कहो चले आया उसकी जो बैठी दिखाया मैं आज देखा नहीं देखा क्या प्रमाण करता देखा प्रमाण मेरे तो उसके बोल दिया

यदि ब्रह्म जिस प्रकार से विद्युतान विद्युतांतरम चित्र विद्युत का बिजली का चमकना होता है उसी प्रकार से वह यह जो ब्रह्म भी जो दुखद प्रकाशमान हुआ तो समान आर विद्युत यदा घनानुदार निधार्य विद्युत सर्वद प्रकाशक एवं ब्रह्म देवाना प्रद सर्वद प्रकाशवदीभूतम यदि कृष्ण इसलिए वह ध्यानकार को भेदन करता हुआ धारण करता हुआ विद्युत चारों तक प्रकाशित प्रकाश करते हुए प्रकट हुआ करता है उसी प्रकार से ब्रह्म देवताओं के सामने उनके भयंकर अज्ञान को चीरते हुए उनके अभिमान को फोड़ते हुए भगवान चारों ओर से प्रकाश करता हुआ व्यक्ति भेदम प्रकट हुए अतः यदि जुड़ेगी उपास्य इसलिए बिजली के समान करके उसको बात करना चाहिए यदि सूर्य यथा सुग्रीवी सब वाज संयुक्त इसी बात को वाचने के लिए कहा है कि वासन है प्रयाण परिषद यथना इंद्रियों को सत्र काल है ये भी नहीं सकता दूसरा इंद्र जैसे पहुंचा तो पुरोहित हो गया इसलिए विवेचक सत्य का प्रकाशन और इंद्र के संतोधान को लेकर के ये नहीं सकता निवृत्ति आंखों को बंद कर लेते हो वैसे आपने आप उसने बंद कर लिया दाद लिया इसलिए जितने भी इंद्र के समर्पण काल में वह निवेश तो यथा कश्चित चक्ष निवेश भगवान जैसा दिल्ली यही क्या करती है यही सोचती है और ये दुनिया अंधकार में है दूसरी लगती आंख बंद कर लेती है और बस के द्वारा तो दुनिया मेरे को कोई भी नहीं देख पूरी दुनिया विकार में है और मेरे को कोई नहीं देख रहा है अज्ञान जानना इंद्र का भी अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान उसी प्रकार का लीला कर दिया सत्य चक्षण निवेश भगवान इति अनर्थ बहु लिखा इति दो बार ये दोनों इति शब्द है अलग अपने पद को तो कोई अर्थ नहीं निमिषित फिर जैसे आम को भून दिया जाता है इसी प्रकार से मानव परम परमात्मा अपने विशिष्ट को तिरुपुट नित्यम अधिदेवनम देवता दर्शन दर्शनम देवताओं को अधिकृत करके जो किया जाने वाला उपासना है उस उपासना को अधिदैव उपासना करते हैं अगर तो ब्रह्म को अधिदेव स्वरूप कह रहे हैं बिजली के समान और निमिलन के समान बिजली का उन्मिलन भी दोनों बिजली में घट जाएगा ना बिजली एकदम आता है और आप जो देखने तो आते उधर मिला है ऐसा चमकता है आप उसको देखने से पहले ही कहा दिया आप बिजली को देख नहीं आगे बिजली चमक का अनुभव करेंगे आप कह देते हमें देख लेंगे कड़ाके की आवाज आती है जहाँ तो कहाँ आ रहा है तो नहीं देखते हैं कहाँ जाके कहा चला रहा जब तक आप दिशा तय करके देखते रहे तो चल रहा है इसलिए विद्युत के समान तो मिलन भी होता है विद्युत के समान निरंजित ऐसा उसको जो है ब्रह्म की उपासना आदि अधिदेवत में करनी चाहिए नहीं उनको हम लोग उपासना है पति को उपासना नहीं यही ये बिजली है ये बिजली उनके निकल आने वाली की बिजली में ब्रह्मत्व का भावना करो नहीं बिजली टिकेगा फिर वहां पर ब्रह्म की उपासना करो जब तक आप अगर ब्रह्म की भावना करो तो तक हो जाएगा इसलिए अहम रहोपास ये क्या करना है मैं अपने साथ अध्ययन करता हूं बिजली के समान मैं भी इन वृत्तियों के तरह जगत को प्रकाशन भी कर रहा हूँ और निगलन भी कर अपने अंदर ही कुछ अभिदैवत गुण को लेकर के उपासना अध्यानंदम अध्यात्म आत्म अध्यात्म शिवम अध्यात्म उचित है जवाब विशेष आज है इस शरीर को अधिकृत कर बाह्य वस्तु को अधिकृत करके है जैसे और शरीर को विकृत करके किए जाने वाला जो उपासना है वो उपासना शरीर के अंदर क्या है ब्रह्म की सदृश ये होता है ब्रह्म गच्छती व प्राप्त दीव विषय करो दीव इत्यर्थ यथाव दर्शन वाला जो ब्रह्म है वह जानेंगे समान प्राप्त होने के समान अर्थात विषय हो जाने के समान लगता है न पुनर्विषय करो दी अविशेषता ब्रह्म यदि वास्तव का वास्तव में वो विषय नहीं हो जाता है क्योंकि मन का विषय नहीं है मन तो आवश्यकता ब्रह्मण पहले कहा गया में विषय करोगी युवक ही बोल रहे उसके अच्छा युवक क्यों कहा युवक इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि वास्तव में ब्रह्म का विषय नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते मन का भी विषय नहीं तो बाकी इंद्रियों को होने का सवाल नहीं होता अतः मनो में इसलिए मन वहां नहीं पहुंचता है ये आहार मनोमत पहले कह चुके इस बात गच्छीवे मन का जो मन संतान से अगर मन के अंदर गमन प्रकाश मन का गजित कारण हो तो अभिनिमित स्थान होता तत्व ब्रह्म है इसलिए उसको मन कह दिया गया ये माहुर मनोमतम इति गौरव गजती मनसो अभी आत्महत्या भ्रमण इतना मन करता आत्मा शरीर इस शरीर के अंदर प्रकट होने का कारण है मन बुद्धि है मन को बुद्धि को अंतकरण समझ लिया मन को मन नहीं है ना अंतकरण क्योंकि अंतकरण में प्रतिबिंबित होता है ना अंतकरण भी दर्जन है अब देखो ना इनको को बिंब को जानने के लिए प्रतिबिंब को वहां जन्मिए और प्रतिबिंब कहाँ बढ़ेगा स्वच्छता का नहीं पड़ सकता है इसलिए मन क्या है तो इस ब्रह्म के इस शरीर के अंदर प्राकृति का एक उपाधि है इसलिए आत्मवृत का चक्र समय के मनोवर्त में इसलिए ब्रह्म के समीप कौन है मन ही है मन और ब्रह्म का परस्पर प्रतिबिंब बिंब प्रतिबिंब भाव से संबंध हो जाता है तभी मन क्या करता है उस प्रतिबिंब का प्रतिफलन को उस विषय की ओर डाल करके इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण कर पाता है कितनी इंद्रियों के पेशा से विषय की अपेक्षा से तन की अपेक्षा से अंतरतम कौन है मन ही है ग्रंथ इंद्रियों के पड़ा व्यक्त मन कल आपने देखो परिषद में पढ़ेंगे भविष्य में आएगा तीसरे कहते हैं कि उपस्मृति तत्निध मनोवर्धेगी उपस्मृति अनेन मनसीव ब्रह्म विद्वान इसलिए इसी मन के द्वारा ही उस ब्रह्म को विद्वान जानता है अनेन समीवर्तित मन मनसा स्मरिमाणम अभीष्टम संकल्प्यमाणम मनसा प्रत्युरूपम ब्रह्म अहमअस्मी ठीक है अध्यात्म पास सूचित भवती उत्पन्न करता है अनेना समीपवर्ती थी मैं अत्यंत समीपवर्ती हूँ और मन मनता मध्य मेरी अपने मन के द्वारा मैं जो स्मरण करता हूँ तो अभिष्ट संकल्प मान मरे मन में बारम्बार हम ब्रह्मास्त्र करके मैं संकल्प करता हूँ मनोज और प्रत्येक रूपम किसका संकल्प कर रहे हो बारम्बार मन का प्रत्येक रूप का संकल्प क्या है संकल्प ब्रह्म हम असुखी कहा लोग ब्रह्मास्मी इस प्रकार में जो अध्यात्म उपासक स्वरूप कुछ नहीं अध्यात्म उपासना स्वरूप को यह स्वच्छ कर दिया है ये अंग्रेज है ना ग्रंथ को भी अहम मन समीप मन का संकल्प द्वारा गृहमाता विष्णुवाद विजय तच सब्रह्म अहम वास्तवी ऐसा जो का संकल्प हो अभिष्टम पुनः बारम्बार बताए संकल्प ब्रह्म प्रेषित तो संकल्प नहीं करेगा कैसे करेगा ब्रह्म से ही प्रेरित होकर मन संकल्प करता है मन अपने मर्जी से कुछ नहीं करता मन को कुछ आत्मा की चेतन का दान मिले तो मन जड़े तो क्या संकल्प करेगा प्रेरणा का मतलब ना चेतन का प्रधान चेतनता का प्रधान का चेतनता का प्रदान करने मात्र से ही कुछ कहना फल करेंगे हलचल हो गया तो कोई चीज रखा हुआ है अभी लोग कीड़े मकोड़े सब बड़े पड़े रहते हैं धूप पड़ा वो क्रिया होती है तो सूर्य क्या बोलेंगे चलो तुम लोग मैं उठ गया वो कुछ कहता नहीं लेकिन उसका उगना उसका जो प्रकाश उसकी जो सत्ता है तो कहीं भी नदी अंदर जवाब और कई कुछ पहले ही जैसे आप महात्मा लोग चार बजे से लगे कोई तो साढ़े तीन बजे से लगाए कोई तो पांच बजे कोई तो आने से गर्म उठ धो आ रहा है तो आ रहे हैं शरीर उत्तर तो इसलिए कहते हैं कि देखो ब्रह्म प्रेषित से मानव ब्रह्म से प्रेरित हुआ सत्ता चेतन द्वारा अधिष्ठान के द्वारा वहाँ मन के अंदर संकल्प होता है अदोग स्मरण संकल्प आदि ही लिंग ही ब्रह्म मनो मनो अध्यात्म उपस्मृति उपस्मरण संकल्प आदि के द्वारा लिंगों के द्वारा वह ब्रह्म ही क्या है मन में जो ब्रह्म मनो अध्यात्म भूतम उपासम अध्यात्म जो मन है उसी को ब्रह्म रूप रूपेण उपासना करनी चाहिए इतने मनोध्यात्म भूतम और मनुष्य अध्यात्म भूतम ही पाकम सम्यक चंद्र कुछ जो अध्यात्म उपासना जुड़े भी जैसी उस अध्यात्म जाने दूर क्या आएगा जैसे वहां पर आएगा पहले विद्युत को ब्रह्म मानो अगले फिर विद्युत में क्या गुण है विद्युतदा निगम सदा प्रकाशित हो जाना और निर्मूलन हो जाना ये दो उसमें गुण है इसमें विद्युत हम मानने क्या गुण है जिन गुणों को लेकर उन गुणों से विशिष्ट मन को ब्रह्म रूप में सगुण ब्रह्म का अपना अहंग्रह ऐसे हम कर सकेंगे इसके लिए गुणों का उदाहरण करने के लिए तद्भुत ब्रह्म तत्त गुणम चतम गुणम ब्रह्मजनीय तदनंदानीता तद्वनम का मतलब तद ब्रह्म वाह ब्रह्म तच्च तद वनम इसका पश्चिम नहीं बनेंगे ना भाई हाँ तो आपका कोई बगीचा है पौधा हो जाएगा कोई तो का पौधा है बंगी बगीचा है ऐसा तो नहीं निकालना कच्चा तद बनाएंगे यहाँ पर विशेषण विशेषित होने कर्मचारी करना ठीक है द्वंद करना ठीक है द्वंद में क्या होगा दो रूपये का लक्ष्य हो जाएगा वह ब्रह्म भी भजनी भी है वह ब्रह्म है और हाँ? वचनीय तो भी है ऐसे कहना पड़ रहा है वो गड़बड़ होगा इसलिए विशेष विशेष भाव का वचनीय पूर्ण ब्रह्म को ग्रहण वचनीय पूर्ण विशिष्ट ब्रह्म ऐसा होता है तो ऐसे कर्मान समाज सच्चा सदन चला बोल कर हाँ, तत्परोक्षम बलम मन संभजनीयम कैसे करेगा वह जो परोक्ष ब्रह्म है वह संभजनीय है वह तो है रहा तस्मात्र गुण नाना इनकी जो है गुण संभजनी धातु यह है उसमें जो धातु से कर्मणी अर्थ प्रत्येक किया हुआ है तो तब कर्मणा तस्मात गुणम नाम इसलिए उसका नाम क्या है ब्रह्मणो गौरम ही गुण नाम ब्रह्म को तो गौर नाम समझो तस्माद अनिल गुणेना सगुण की उपासम इसलिए इस भजनीय गुण के द्वारा ही उसकी उपासना करनी चाहिए ये किंचित नियम बहुत ही सर्वण ब्रह्म ब्रह्मत्वादे बनो गीता में अंत में कहा दसवें अध्याय में भगवान कितना गिनाए गिनाते गिना थक गई फिर अंदर जाते क्या है हाँ, मम तेजांश जानो मेरे अंश तो। कोई वैज्ञानिकों का ही वर्णन किया वहां पर फिर साराम सत्योषी अमुक अमुक अमुक तब तो रूप में तो सामान्य में मैं अमुक रूप का भंजनी हूँ जितना भी रूप विघटन करने वाले जितने भी अध्याय है गीता में हो चाहे अन्य भी तो सारा संभजनित्व का ही व्याख्या जिस परिषद ने कहा हुआ संभजनित्व का व्याख्यान पर स्मृतियों को ग्रहण करना चाहिए सर्व कशिन यथा यथोक्तम एवं गुणेन ब्रह्म सर्व कशित जो कोई व्यक्ति एवं गुणेन प्रकार से पूरे गुरु के द्वारा पवन से नाम के द्वारा अभिधेय ब्रह्म को जाने का उपासना करेगा उसे फल मिले क्या सर्वाणी भूतानी एवं उपासनम अभिवांछन्ति यह अभिसंभजनते एवं तो यथा गुण उपासना हम देवी गुणों की उपासना करेंगे वैसे ही आपको फल भी मिलेगा और आपने संबंधित गुणों को लेकर उपासना किया है इसे आपके अंदर भी संबंधित आ जाएगा और सारी दुनिया आपको मिलेंगे सेवन